ईश्वर की सिद्धि होने के बाद जो जीव ईश्वर का भेद मानते हैं उसका निराकरण करने के लिए प्रारंभ किया गया था जीव ईश्वराद भिन्न तद विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात् जिस जो जिससे विरुद्ध धर्म से युक्त होता है उसे भिन्न होता है महिषस्व भिन्न है इसे अनुमान तर्क तार्किक सिद्ध अनुमान से तार्किक भेद सिद्ध करते हैं किंतु ये अनुमान बाधित है श्रुति से बाधित श्रुति विरोध होने से बाधित है अनुमान यदि अन्य प्रमाण से बाधित हो जाता है तो से अनुमान से साध्य सिद्ध नहीं होगा अबाधित विषयकत्वम एक चाहिए हेतु में अन्य वितरिक हो तो नहीं हो केवल वितरिक हो अबाधित विषयकत्व साध्य आवश्यक है पंच गुण युक्त होकर के हेतु अपने साध्य सिद्ध करता है अन्य व्यतिरिक तल में केवल अन्य केवल में व्यतिरिक में चार प्रकार किंतु अबाधित विषयकत्व तो चाहिए अबाधित विषय यस्य साध्य रूप विषय यदि बाधित है किसी प्रमाण से उसका अभाव निश्चित है पक्ष में ही अभाव का निश्चय है तो वहाँ अनुमान नहीं होगा व्याप्ति हेतु दृष्टांत परामर्श सब करे जब हृदय वन्य अभाव निश्चित है तो वन्यमान हृदय से ज्ञान नहीं होगा तदवता बुद्धि के प्रति तद अभावता निश्चय प्रतिबंधक घट अभाव भूतल मिशा जी निश्चय है किसी प्रकार घटवध भूतल ज्ञान नहीं होगा वायु में रूप अभाव आपको निश्चित है रूप अभावन वायु कोई अनुमान करे कि वायु रूपवान कुछ हेतु साध्य कुछ ही प्रयोग करे तो रूप अभावान वायु ऐसा निश्चय जिसको है उसको रूपवान वायु ऐसा ज्ञान होगा ही नहीं इसी प्रकार जहाँ साध्य बाधित साध्य अभाव निश्चित है पक्ष में वहाँ साध्य सिद्ध नहीं होगा तो श्रुति का विरुद्ध है अद्वैत एक ही ब्रह्म है सदैव समय मगर श्रुति से बाधित है और श्रुति के लिए अनुग्राहक भी है अर्थापति प्रमाण श्रुति तो स्वतः प्रमाण है बलवती है बलवती श्रुति है तो भी उसका यदि अनुग्राहक अन्य प्रमाण से ही सिद्ध हो जाए और दृढ़ हो जाता है कोई एक प्रमाण और दूसरे प्रमाण यदि उसके सहायक हो गया और दृढ़ एक व्यक्ति देख कर आए कुछ बताया दूसरे व्यक्ति कहे मैंने देखा तो और दृढ़ निश्चय हो जाता है तो साधक को दृढ़ निश्चय हो जाएगा भेद निंदा अनुपपत्ति अनुगृहित अभेद श्रुति भेद की निंदा की गई मृत्यु से मृत्यु में आपनोति यह यह नानैव पश्यति भेद दर्शन करने पर फिर बार-बार जन्म मरण संसार को प्राप्त करता है अरे और नेह नानास्ति करके भेद का निषेध किया गया इसी भेद निंदा अनुपपत्ति रूप अर्थापति प्रमाण है उसे अनुग्रहित अभेद श्रुति का विरोध होने से यह अनुमान बाधित है अपदिष्टत्वम बाधितम यही कहा गया ज्ञान इसमें ज्ञान पहले पूर्व पक्षी का कथन है पूर्व पक्षी कहता है विरुद्ध धर्माक्रांत है ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध मुक्ता मुक्त भेदात आत्म भेद वेति चैन भेद दृष्टि अपवादात ये संग्रह वाक्य है उसका विवरण है यदुक्तम संसारी न ईश्वराद अन्य तन्न संसारी न जीवा न बहुवचन ईश्वराद अनन्या अभिन्ना ईश्वर से भिन्न कोई जीव है ही नहीं नान्य अतुष्टि दृष्टा श्रोता मनता परमात्मा से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं जो दृष्टा श्रोता मनता अलग-अलग लगते हैं वो परमात्मा ही है भिन्न कुछ है ही नहीं हाँ उसके प्रतिबिंब बहुत हो सकते हैं किंतु बिंब रूप परमात्मा एक है अन्य अन्य लगता है जिस प्रकार अनेक दर्पण में अनेक प्रतिबिंब दिखते हैं एक बिंब होने पर भी प्रतिबिंब बहुत हो सकते हैं एक आत्म चैतन्य है दृग रूप है सबके अंतकण में उसका प्रतिबिंब होने से लगता है अलग-अलग दृष्टा श्रोता मनता वास्तव है ही नहीं श्रुति स्पष्ट कहती है तो निंदा की तो पूर्व जी कहता है ये जो आपने कहा यदुक्तम ईश्वर ईश्वराद अनन्यायति पूर्व पीछे कहता तन न कि नहीं है किंतरी भेद एव संसारी आत्मनाम संसारी आत्मनाम भेद संसारी आत्मा तो भिन्न भिन्न है ईश्वर से भिन्न है भिन्न क्यों है कस्मात लक्षण भेदात हेतु लक्षण भेदात दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है तो विरुद्ध लक्षण से युक्त विरुद्ध धर्म से आक्रांत विरुद्ध धर्म वाला दोनों ईश्वर और जीव अलग-अलग है ईश्वर का लक्षण अलग जीव का लक्षण अलग एक अद्वैत नहीं है एक हो जो ईश्वर वही यदि जीव है तो लक्षण एक होना चाहिए क्योंकि लक्षण का भेद है इसलिए ईश्वर जीव भिन्न है दृष्टांत असमय शब्द असौर महिष भिन्न भिन्न है असो का लक्षण अलग महिष का लक्षण अलग दोनों एक कैसे होंगे कथम लक्षण भेद है है सिद्धांत की तरफ से प्रश्न करते कैसे लक्षण भेद हुआ अश्व महिष में तो लक्षण भेद ठीक है जीव ईश्वर में लक्षण भेद कैसे सिद्ध होगा ये तो उच्यते पूरा पीछे उसका उत्तर देता है उच्यते कहकर उत्तर जो उत्तम टीका में पहले है ये दुक्तम नहीं ठीक है हाँ ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य दिया ईश्वर से ताव नित्यम सर्व विषय ज्ञानम सवित्री प्रकाशवत ईश्वर का ज्ञान नित्य है सर्व विषयम सर्वम सर्वे विषया यस्य सर्वे विषया यस्य कस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानं सर्व विषयम् सर्वे विषया यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानं सर्व विषय सर्व विषयकम ज्ञानम नित्यम ईश्वरस्य ईश्वर का ज्ञान नित्य है और सर्व विषयक है सबको विषय करने वाला ज्ञान अतीत अनागत दूर विपक्ष सब को विषय करने वाला ज्ञान है और नित्य है आगे कब प्रलय होगा कब वृष्टि होगी कभी क्या होगा उसका ज्ञान ईश्वर को अभी से अप्रत्यक्ष है उनके सामने प्रत्यक्ष है आगे क्या होने वाला पहले क्या हुआ था सर्व विषय ज्ञान हमेशा है हमको विषय को देखने पर इंद्रिय सन्निकर्ष होगा तो प्रत्यक्ष होगा भविष्य का आगे क्या होगा प्रत्यक्ष आपको होता है अतीत का तो होता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं होगा विषय सामने हो तो प्रत्यक्ष होगा ईश्वर का ज्ञान एक है सर्व विषय का है सब उसका विषय कोई छोटे का नहीं सब उसका विषय है सर्व विषय ज्ञान एक है प्रत्यक्ष है रज्जु में सर्प भ्रम आपको होता है कभी हो सकता है ये रज्जु में सर्प को ईश्वर देखेंगे या नहीं देखेंगे सर्व विषय ज्ञान है तो रज्जु में सर्प भी देखेंगे नहीं देखेंगे नहीं देखे तो सर्वज्ञ नहीं हुआ आ जीव जरजी में सर्प देखेगा ईश्वर को सर्प नहीं दिखेगा तो सर्व विषय ज्ञान नहीं हुआ यदि सर्व देखेगा सर्प को देखेगा तो ईश्वर भ्रांत हो जाएंगे अज्ञान है नहीं ईश्वर में तो रज में सर्प को देखेगा तो अज्ञानी हो जाएंगे नहीं देखेगा तो असर्वज्ञ हो जाएंगे तो सर्प का ज्ञान है या नहीं ईश्वर को क्या करेंगे <laughs> सर्प को देखेंगे तो भ्रांत नहीं देखेंगे तो सर्व सर्व विषय ज्ञान नहीं रज में सर्प को देखते हैं जैसे बच्चा सर्प खिलता है वो देखता है ना नहीं दूसरे कहता सर्प अब स्वयं क्या मानता सर्प मानता है इसी प्रकार ईश्वर देखते हैं ये जीव रज्जु को सर्प समझ रहा है जीव कैसे देख रहा है सर्प उस सर्प को देखते हैं रज्जु में सर्प जीव देख रहा है रज्जु में सर्प इस प्रकार जीव देख रहा है करके ईश्वर को मालूम है तो भ्रांत हो जाएंगे आप देख रहे हो रज्जु कोई दूसरे व्यक्ति सर्प समझ करके डर रहा है आप पास में देख रहे तो आपको मालूम है सर्प देख रहा है सर्प कैसे दिखता है आपको पता नहीं वो कैसे दिखता है किंतु ईश्वर को पता है उसको कैसे दिखता है वो कैसे दिखता है क्या सोचता है वो ईश्वर को मालूम है किंतु देखते रज्जु रज्जु भी देखते हैं और कोई व्यक्ति उसको सर्प किस प्रकार देखता है ये भी देखते हैं तो भ्रांत हो जाएंगे भ्रांत असर्वज्ञ है असर्वज्ञ नहीं भ्रांत नहीं तो सर्व विषय ज्ञान है ईश्वर का है सवित्र प्रकाशवत दृष्टांत दिया एक दीप आदि जलाएंगे तो थोड़े कहीं प्रकाश करता है किंतु सूर्य प्रकाश सारा सर्वत्र प्रकाश कर देता है सर्व विषय ज्ञान है तद विपरीतम नाम खद खद्युत शिव और संसार जीव के ज्ञान सर्व विषय के आधे को विषय करेगा चौथाई को <laughs> कुछ नहीं खद्योतवत तो जुगुन जैसे थोड़ा इतने प्रकाश हो गया बस किसी को प्रकाश क्या करेगा थोड़ा जो कर समाप्त हो गया खद्योत तो देखा है ना जुगुन थोड़ा सा प्रकाश चला गया इसी प्रकार जीव इतने अल्प जानता है जितने बहुत जानने वाले बहुत अभिमान करेंगे क्या जानता है सारा ब्रह्मांड का क्या जानता है कितने प्रतिशत ज्ञान हो गया उसको कुछ नहीं सारे बड़े-बड़े वैज्ञानिकों सारे जितने सिद्ध हो सब मिल करके जितने ज्ञान हुआ उससे आगे और कितने ब्रह्मांड बाकी है बहुत बाकी है कुछ ज्ञान है तक तो खद्योत तो के समान बिल्कुल कुछ नहीं नहीं के बराबर सूर्य के सामने खद्योत तो का क्या प्रकाश है इसी प्रकार जीव का अल्प विषय ज्ञान जीव को पता नहीं पीछे कौन है गला कौन पकड़ कर रखा है दिखता है नहीं दिखता है भूत पिशाच कोई पीछे खड़ा है तो किसको पता है कभी ऐसे पकड़ कर उगे रखा है दिखता है पीछे का सामने भी नहीं दिखता है अपने कान में क्या है दिखता है और अंदर तो कुछ नहीं मालूम है एक क्षण में क्या होगा किसके पता नहीं जीव अल्प गया है और ईश्वर के साथ जीव एक कैसे होगा दोनों में विरुद्ध धर्म हो गया तथैव शक्ति भेद भी शक्ति भेद है ईश्वर की क्या शक्ति सारे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले जीव अपने शरीर को कुछ नहीं रख सकता है कुछ नहीं नित्या सर्व विषया से ईश्वर शक्ति विपरीत ईश्वर से ईश्वर की शक्ति नित्य है कभी है कभी नहीं जीव को तो कभी शक्ति है थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया तो बस उठना बैठना खराब मुश्किल है खा भी नहीं सकता कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है भोजन सामने रखा पेट भर क्या आधा भी नहीं खा पाता है खाद्य अच्छा खाद्य रखा स्वास्थ्य खराब हो गया खा नहीं पाता है रुचि नहीं होती मालूम है ऐसा बीमार तो खा नहीं पाते आगे चलना फिरना काम क्या करना खाना भी मुश्किल है जीव की शक्ति अत्यंत कम है ईश्वर की स्थिति सर्व विषया और नित्य है सारा ब्रह्मांड के एक क्षण में जैसे चाहे और कर्म से चित स्वरूपात्म सत्ता मात्र निमित्तम ईश्वर से ईश्वर का कर्म कुछ करना नहीं पड़ता है जीव को थोड़ी कुछ करेगा तो पसीना निकल जाएगा थक जाएगा सांस थोड़े सीढ़ी में चढ़ते तो सांस चलता है हाँ हाँ करके कोई जाते हैं तो ऐसे हाँ। <laughs> कुछ पूछेंगे तो अभी थोड़ा रुक जाओ पहले सांस ले ले खाली चलते चलते परेशानी है और ईश्वर की शक्ति क्या स्वरूप आत्मसत्ता मात्र निमित्तम चित्त स्वरूप है ईश्वर का चेतन स्वरूप और कुछ नहीं ज्ञान है चेतन वही आत्मा है उसकी सत्ता मात्रम निमित्तमेस्य ईश्वर की सत्ता मात्र से ही सब कार्य हो जाएगा कुछ करने का नहीं सत्ता मात्र संकल्प मात्र से ईश्वर सारे जगत की सृष्टि संकल्प मात्र जैसे आप मनोराज्य करते हो बैठ करके मनोराज्य के समय कुछ परिश्रम करना पड़ता है जैसे चाहो इसी प्रकार ईश्वर जो मन में सोचा तुरंत ऐसे हो गया ये सत्ता मात्र है निमित्त जिसका ईश्वर की सत्य का कर्म और जीव का कर्म कुछ नहीं औष्ण्य स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्मवत एक दृष्टांत दिया औष्ण्य स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्म दहन वर्णी का कर्म औष्ण्य स्वरूप द्रव्य है वर्णी उसके सत्ता मात्र निमित्त जो दहन हो जाता है हे वर्णी हे पास में जो आया उसको दहन कर देता है राजा अयस्कंता राजा अयस्कांत प्रकाश कर्म बच्चा स्वात्मा आत्मा अभिक्रिया रूपम राजा की उपस्थिति मात्र से सब कर्म करेंगे अयस्कांत चुंबक मणि मात्र से लोह आकर्षण हो जाता है प्रकाश प्रकाश कर्म प्रकाश जिस प्रकार प्रकाश है कोई सामने आया तो प्रकाशित तो हो गया स्वात्मा अभिक्रिया रूपम स्वात्मन अभिक्रिया अपने में कोई विकार नहीं हो करके कर्म चुंबक से लोह को खींचते समय चुंबक में विकार होता है ना नहीं कंपन आदि होता है कुछ नहीं इसे प्रकाश सामने घट आया नहीं आया प्रकाश जैसे को ऐसे आया तो प्रकाशित हो गया स्वात्मा अभिक्रिया मित्र से थोड़ा कर्म करेगा तो थक जाएगा फिर सो जाएगा हाँ थक गया कर्म कम कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है और दोनों में भेद है उपासित इति वचनात् उपास ईश्वर गुरु राजवत ऐसे गुरु और राजा उपास्य होते हैं ऐसे ईश्वर उपास्य ब्रह्म मनो ब्रह्म इति उपासित ऐसे ब्रह्म की उपासना करे उपासे ईश्वर अजीवत होता उपासक उपासक चैतर अन्य उपासक शिष्य वृत्त्यवद जैसे गुरु का शिष्य उपासक है राजा का वृत्य उपासक है इसी प्रकार ईश्वर का उपासक जीव है दोनों एक कैसे होंगे और अपत पापं तो आदि श्रवणा नित्य शुद्ध ईश्वर अपत पाप पुण्य रहित है ईश्वर नित्य शुद्ध ही है और जीव तो पुण्य पाप से युक्त पुण्य वे पुण्य नैते वचनात विपरीत ही तो पुण्य कर्म से पुण्य लोक प्राप्त करता है पाप कर्म से पाप लोक प्राप्त करता है पाप कर्म फल प्राप्त करता है पुण्य पाप से युक्त है अशुद्ध है पुण्य पाप के कारण बहुन विभिन्न वासनाएं संस्कार है ऐसा अशुद्ध है जीव एक नित्य शुद्ध है कि अत्यंत अशुद्ध पुण्य पाप वाला है कि शुद्ध है दोनों एक कैसे होंगे अतएव नित्यम उतएव ईश्वरो नित्य अशुद्धि होगा संसारी अतएव अतएव पुण्य पाप नहीं होने से ईश्वर नित्य मुक्त एव <clears throat> पुण्य पाप हो तो जन्म होगा पुण्य पाप नहीं शुद्ध है नित्य मुक्त है कभी बद्धता मुक्त हो गया था नहीं नित्य मुक्त है कभी बंधन उसे हो नहीं सकता है ईश्वर और संसार तो नित्य अशुद्धि होगा तो संसार इतर संसार वाला बंधन में है ईश्वर जीव इतर अन्य जीव नित्य अशुद्धि होगा तो हमेशा अशुद्ध है पुण्य पाप से युक्त है कब से है जीव अनादि काल से चल रहा है जब तक ब्रह्म ज्ञान है तब तक ऐसे ही अशुद्धि से युक्त है जितने भी शोधन करे है तो आत्मा तो शुद्ध है अद्वितीय उसको नहीं जान करके देहादि में अहम बुद्धि करके अशुद्ध संसारी जन्म मरण को प्राप्त करता है तो जो ऋषि कहता है जीव अत्यंत विलक्षण ईश्वर से विरुद्ध धर्म आक्रांत विरुद्ध धर्म से युक्त है अपिच यत्र ज्ञानादि लक्षण भेदोस्ति तत्र भेदोदिष्ट जहाँ ज्ञान शक्ति कर्म आदि भेद है वहाँ भेद दिखा गया अश्व का ज्ञान अमहिष का ज्ञान शक्ति कर्म सो भिन्न भिन्न है दिखा गया भेद है अश्व महिष यथा अश्व महिषयोस तथा अश्व और महिष दोनों एक है ना भिन्न भिन्न है दोनों का ज्ञान शक्ति बल सब कर्म अलग-अलग है वेद है और तथा ज्ञानादि लक्षण भेदाद ईश्वराद आत्मना भेदो स्थिति चेत ज्ञान आदि शक्ति बल आदि सब भेद होने से आदि स्वरूप भेद होने से लक्षण भेद होने से ईश्वर से आत्मना स्थिति ईश्वर से जीवात्मा का भेद है इति चेत यहाँ तो पूर्व शुभा सिद्धांत कहता ना क्यों नहीं संग्रह वाक्य में कहा था भेद दृष्टि अपवादात भेद वेति च न भेद दृष्टि अपवादात संग्रह वाक्य में कहा था सिद्धांत कहता है अन्योसा सा वन्यो अहमस्मि न स वेद ते क्षय लोका भवन्ति मृत्यु से मृत्यु में आपनोति इति भेद दृष्टि अपोद्यते भेद दृष्टि का अपवाद अपोद्यते अपवाद की जाती भेद दृष्टि के क्या अपवाद किया जाता है निंदा की निंदा की जाती है अन्यो असो अन्य हम जो मानता है असो मेरे उपास्य मेरे से भिन्न है अन्य अहम अस्मि मैं उपासक ईश्वर से भिन्न हूँ ऐसा जो मानता है न सबेद वो ठीक नहीं जानता है भेद दृष्टि से जो उपासना करता है वो ठीक नहीं जानता है यथा पशु सदेवानां मनुष्य का जैसे पशु है ऐसे देवताओं के पशु तुल्य है भेद दृष्टि करने वाले का निन, की निंदा की गई न सब भेद जो उपास्य भेद दृष्टि करता है उपास्य भिन्न रुत्वेन दिष्ट नेदम यदिदम उपासते ये भी कहा गया अन्य असो अन्य अहम अस्मि जैसा जो जानता ठीक नहीं जानता है ते क्षय लोका भवंति क्षय लोक इनका लोक कर्म पर नाश होता है इसे लोक प्राप्त करते हैं जितने भी उपासना करे कर्म करे जो फल प्राप्त होगा विनाशी फल प्राप्त तो प्राप्त करेगा नित्य फल प्राप्त नहीं होगा नित्य तो ज्ञान से ज्ञान से ही क्या प्राप्ति ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया सर्वपत तो नित्य है बाकी कर्म उपासना से जो प्राप्त होगा अनित्य लोक अनित्य फल प्राप्त होता है उपासना भी एक मानुष कर्म है मृत्यु से मृत्युमापनति इति यह यह नानी पश्यति यह यह नाना इव पश्यति नाना जैसे देखता है नाना है ही नहीं या यह नाना पश्यति नाना इव नाना जैसे दिखता है मृत्यु से मृत्यु एक बार मर गया फिर आगे मृत्यु मरने के बाद फिर मृत्यु मतलब जन्म जरा व्याधि से होकर फिर मर गया फिर एक बार मर मरने के बाद मरना इतने जल्दी मरने के बाद मरण आ जाता है तो बीच में जितने साल है उसकी हिसाब नहीं होती पंखा ही बिंदु घूमता है ना ऐसा अला चक्र एक स्थान से घूम करके इतना आते समय कितने समय लगता है इतने जल्दी लगता है तो वहीं लगता है लगातार यहीं है घुमाते समय दिखता है पूरा गोल दिखता है ऐसे गोल दिखता है ना नहीं घुमाते जोर से घुमाएंगे तो गोल दिखता है मतलब क्या है वहाँ है लगता है घूम कर आते आते फिर वहाँ आते से इतने जल्दी आ जाता है अतः वही है इसी प्रकार मरण करके अनादि काल से अनंत काल विचार करेंगे तो हम इतने साल बसेंगे इतने बड़े इतने छोटे एक बार जन्म होकर के मरने तक सारा ब्रह्मांड अनादि काल हिसाब करेंगे तो वहां से एक जन्म मरण के बीच में कितने समय व्यवधान कुछ भी नहीं है यदि किसी ग्रंथ पुस्तक में से एक एक जन्म का लिखते जाओ इसके पहले एक जन्म के एक पना बनाओ कितने पने पहले हो गए अनादि काल से कितने एक जन्म में एक पन्ना में यदि रखे एक जीवन में जितने हुआ एक पन्ना में लिखो सारा सारा आपके जीवन में क्या-क्या अभी तक हुआ एक पृष्ठ में लिखो कितने कम हो गया एक दिन के हिसाब है उसमें एक कितने साल तीस पच्चीस पचास पचास साल का यदि एक पन्ना में लिखेंगे उसमें एक कोई दिन का हिसाब है दिन का कोई हिसाब नहीं बस एक पृष्ठ में लिखेंगे क्या दो चार पांच लिखेंगे जन्म हुआ अमुकस्तान में वहाँ पड़ा उसके बाद भागा वहीं रहा वही भीख मंगा वही खाकर मांग कर खाया वही लात खाया वही तिरस्कार वही पुरस्कार वही पढ़ा अभी यहाँ रहा है अभी चलना नहीं मुश्किल है बस खत्म हो गया जीवन <laughs> फिर मरने की तैयारी फिर कहाँ जाना है इसलिए ये कहते मृत्यु से मृत्यु मापनति मरण से फिर मरण फिर मरण बस बार-बार जन्म मरण को प्राप्त करता है कौन यह यह नाना पश्यति भेद दृष्टि करने वाले को ये पुरस्कार मिलता है बार-बार जिसको जन्म मन लेना है वो भेद दृष्टि करना चाहिए अभेद दृष्टि करेगा तो फिर नहीं आ सकता है आ करके जन्म मन भोग करना भंडार खाना है तो भेद दृष्टि करनी चाहिए जिसको मोक्ष प्राप्त करना परब्रह्म स्वरूप में रहना उसको क्या करना चाहिए भेद दृष्टि नहीं करनी चाहिए एकत्व तो प्रतिपादिन्यस्य श्रुतयो सहस्रशो विद्यन्ते जीव ब्रह्म की एकता को प्रतिपादन करने वाली श्रुति सहस्र सह विद्यन्ते हजार हजार बहुत श्रुति है तो तुम से आदि तो महावाक्य एक साथ है तुम ब्रह्म हो ऐसे बहुत श्रुति है यहाँ तक आगे टीका में स्वात्मनो अविक्रिया रूपम यह अर्थ क्या जो भाष्य में आया राजा अयस्कांत प्रकाश वच्च स्वात्मा विक्रिया रूपम उसकी व्याख्या है सात्मेति प्रतीक होना चाहिए स्वात्मन अविक्रिया रूपम जगत उपादान आदि लक्षणम कर्म ईश्वर से स्वात्मन अविक्रिया रूप स्वात्मा में आत्मा में ईश्वर में कोई विक्रिया नहीं हो करके ईश्वर का कर्म क्या कर्म ईश्वर का जगत उपादान आदि लक्षण जगत का उपादान जगत का निमित्त उपादान कारण सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ये सब कर्म ईश्वर का दूषणांतर अभिधित सया अनुवदति अन्य दूषण कथन करने के लिए फिर सिद्धांत अनुवाद करता है यदुक्तम यदुक्तम ज्ञानादि लक्षण भेदात इतर उच्यते न अनभिवगमात पूर्व पिछले ने कहा इतने बड़ा अनुमान मैंने बताया विरुद्ध धर्म से युक्त होने से अश्व से महिष जैसे भिन्न इसी प्रकार ईश्वर से जीव भिन्न है और आप दो चार श्रुति कहते सहस्र श्रुति विद्यते कह करके कहते भेद नहीं एक ही है अनुमान से सिद्ध होता है अनुमान तो प्रमाण है वेदांत भी तो अनुमान को प्रमाण मानता है तो विरुद्ध धर्म से आक्रांत होने से भेद होगा इसके ऊपर सिद्धांति कहता है यदुक्तम ज्ञानादि लक्षण भेदात ज्ञान शक्ति बल कर्म आदि के भेद से भिन्न है जीव ईश्वर से इतत्र उच्यते इसी विषय में हम कहते न अनभ्यगमात नहीं मानते ज्ञान आदि भेद अनभ्यगमात बुद्धियादिभ्यो व्यतिरिक्ता विश हैं ठीक है मैं अच्छा हाँ जीवा किम बुद्ध्यादि विशिष्टा चित प्रतिबिंबा गृहन्ते किंबा देव मनुष्य आदि शब्द वाच्यः सचित्तिका देहा किंबा तृतीयो विलक्षण निरपाधिक भेद भिन्न चेतना तीन विकल्प क्या जीव को आप ईश्वर से भिन्न सिद्ध करने के लिए जीव को पक्ष बनाया जीव ईश्वर आदि भिन्न जीव ईश्वर भिन्न है विरुद्ध धर्माक्रांतता जीव ईश्वर से भिन्न है तो जीव शब्द से किसको लेना आप जीव ईश्वर से भिन्न कहते तो जीव शब्द से किसको लेना जीवा किम अब बताओ जीव शब्द किसको लेना मनुष्य को लेना पेड़ को लेना या भेड़ को लेना या किसको लेना सब जीवों को लेना जीव मतलब मनुष्य शरीर को लेना क्या आत्मा को लेना आत्मा दिखता है तो किसको लेना इसे कहते बुद्धि आदि विशिष्टा बुद्धि आदि विशिष्ट जो शरीर है दिखता सूक्ष्म शरीर बुद्धि कहने से उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है बुद्धि आदि विशिष्टा चित्त प्रतिबिंबा ये चित्त प्रतिबिंब चिदाभास चिदाभास जिसमें है वही जीव सदशिला बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीर जिसमें चिदाभास दिखता है इसको हम जीव कहते हैं पत्थर दीवार को जीव नहीं कहते हैं शुद्ध चैतन्य तो वहाँ है किंतु जीव क्यों नहीं कहते हैं वहाँ अंतकरण नहीं चिदाभास नहीं तो जहाँ बुद्धि आदि विशिष्ट चिदाभास है उसको जीव शब्द से कहते हो क्या धर्मित्वन गृहते धर्मी पक्ष मान करके जीव जिसमें ईश्वर का भेद सिद्ध करना धर्मी वो धर्मी जीव क्या है बुद्धि आदि विशिष्ट चेतन चिदाभास है एक प्रथम विकल्प हुआ दूसरा किंबा देव मनुष्य आदि सचिति का दया अर्थात देव मनुष्य पशु वृक्ष ये सब कहते हम किसको देखकर कहते हैं चिदाभास को देख करके या शुद्ध चेतन को देख करके हैं देह को देख कर कहते हैं ये देव है ये वृक्ष है ये पशु है तो ये देह को देख करके देव मनुष्य आदि शब्द वाचा देव मनुष्य पशु वृक्ष आदि शब्द का अर्थ देह देह तो है किंतु मर गया तो उसका देह कहते हैं ना मनुष्य कहते ना पशु कहते हैं हाँ, लाश हो गया मर गया लाश बड़े बड़े बड़े जितने हो राजा हो जितने महामंडेश हो मर गया तो क्या हो गया अब गया लाश दुर्गंध होगा हां दो तीन दिन होते इतने दुर्गंध होगा <laughs> बड़ा दुर्गंध हो जाता है जितने भी बड़ा हो दुर्गंध हो जाए ऐसे मर गया तो गया तो जो देह को कहते हो मनुष्य पशु राजा देव और खाली देह देह तो मर गया मर जाने पर कहेंगे राजा है कैसे सचितिका देहा सचितिका चित्त्या सहिति सचितिका चेतन के साथ देह को मन देव मनुष्य आदि कहते जब तक तो चेतना है तब तो कहेंगे देव मनुष्य आदि मर गया तो लाश हो गया मिट्टी जलाओ फेंको गंगा जी में सचिति का देहा ये हो गया देव शब्द इसको लेते हो चिदाभास को समझ करके धर्मी पक्ष बनाना जिसको देव मनुष्य आदि कहते जह दिखता है देह चेतन वाले उसको कहते हो जीव किंबा तृतीय अथवा तृतीय कोई एक है विलक्षण निरुपाधिक भेद भिन्न विलक्षण है निरुपाधिक भेद भिन्न चेतन निस्वभाव का भेद से भिन्न कोई चित्रित है विलक्षणों से अतिरिक्त है निरुपाधिकन से कोई औपाधिक भेद नहीं वास्तव भेद लेकर के विलक्षण शासो निरुपाधिक भेद न भिन्नच निरुपाधिक भेद युक्त और विलक्षण कोई एक है उसको लेते हो क्या तो कितने विकल्प हुआ अच्छा चिदाभास को लेकर भेद सिद्ध करना वेदांति क्या चिदाभास भिन्न मानेंगे एक मानेंगे हैं भिन्न में नहीं सीधा वेदांति हैं बोलो सिर क्या है तो चिदावास भिन्न भिन्न है ना तो न्यायिक लोग अनुमान प्रयोग करेंगे तो वेदांति क्या कहेंगे सिद्ध साधन हमको तो मालूम हमको इष्ट है तुम तो अनुमान करके इतने बड़े अनुमान करके चिदावास में से भेद सिद्ध करोगे दर्पण में मुख बिंब एक है अनेक प्रतिबिंब है हो सकता है क्या आ कोई इसके लिए बड़े अनुमान देकर कर रहे हैं क्या अनुमान करते हो हम तो मानते नाना है अनुमान जो तर्क संग्रह नहीं पढ़ा है तर्क नहीं पढ़ा उसको नाना दिखेगा है कि दस दर्पण में प्रतिम्ब दस दिखेगा और उसके लिए अनुमान क्या वाक्य प्रयोग करना है दस प्रतिम्ब तो होते हैं तो चिदावसन नाना हम मानते आद्य सिद्ध साधन तो माह न न विभगमात ये चिदावास में तो मानते उसमें क्या है वास्तव भेद नहीं है आगे बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिता विलक्षणा चैसरादि विलक्षणा भिन्न लक्षणा आत्मा न संति और जो बुद्ध्यादि आगे बुद्धियादिभ्यो इसके बुद्ध्यादि और आई हां चित्तम ज्ञान सुजाते बीजम विद्यादि आज आगे आएगा हां भाष्य में पहले बुद्धियादिभ्यो व्यतिरिता विलक्षणाश्च बुद्धि देह आदि से भिन्न विलक्षण जितने बुद्धि आदि है उसे भिन्न है जैसे तार्किक लोग मानते हैं आत्मा देह इंद्र बुद्धि प्राण से भिन्न मानते तार्किक लोग है नहीं क्या लक्षण मानते हैं आत्मा का ज्ञानाधिकरण ज्ञान का अधिकरण आत्मा ये भूत बुद्धि आदि भूत भौतिक से विलक्षण चेतन मानते हैं और व्यतिरिता विलक्षणाश्च ईश्वरादि भिन्न लक्षण ईश्वर से भिन्न लक्षण वाले ऐसा मानते तार्किक लोग ईश्वर आदि भिन्न ऐसा आत्मान न संति जो पक्ष बनाओगे ऐसा अलग के बुद्धि आदि से विलक्षण जो ईश्वर से भिन्न हो जो आप भेद सिद्ध करते हो चिदाभास को लेकर भेद कर तो कोई आपत्ति नहीं अरे बुद्धि से विलक्षण आत्मा ईश्वर से भिन्न आत्मा न संति क्या प्रमाण है देखा है किसने ईश्वर से भिन्न आत्मा बुद्धिया से विलक्षण अनेक है देह तो अनेक दिखता है देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण से विलक्षण चेतन आत्मा अनेक है दिखता है नए तार्किक से पूछो तुमको अन्य आत्मा का प्रत्यक्ष होता है क्या मानेंगे अन्य आत्मा का प्रत्यक्ष तार्किक लोगों को अन्य आत्मा का प्रत्यक्ष होता है क्या अपने आत्मा का प्रत्यक्ष कहते दूसरे आत्मा का प्रत्यक्ष होगा नहीं होता है अनुमान करेंगे किसको दे करके देह को दे करके देह को दे करके अन्य आत्मा देह को दे करके उसे शब्द ज्ञान आदि से अनुमान करेंगे देह में भेद है और सिद्ध हो जाएगा आत्मा में भेद पर्वत में धूम देखो हृदय में वनि सिद्ध हो जाएगा ना नहीं पर्वत में धूम देकर के धूमवान पर्वत तो तस्माद हृदो बनेमान देह में भेद है इसलिए आत्मा में भेद है कितने सुंदर तर्क है <laughs> ऐसे तर्क करेंगे तो पर्वत में पर धूम देखो हरदो में बनेमान अनुमान कर लो इसलिए आत्मा भिन्न है ऐसे है ही नहीं एक ईश्वरश्च आत्मा सर्वभूतानां नित्यमुत अभिपगम्यते एक ही ईश्वर है वही आत्मा है ईश्वर अलग आत्मा अलग नहीं ईश्वरस्य आत्मा वो तो कस्य आत्मा सर्वभूतानाम आत्मा सर्वभूताना आत्मा वही ईश्वर है वही नित्यम उत अभ्युपगम्यते स्वीक्रियते बाह्यस चक्षुर बुद्ध्यादि समाहार संतान अहंकार ममत्व विपरीत प्रत्यय प्रबंधा विच्छेद लक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान आत्मा ईश्वर गर्भ नित्य विज्ञान आभास चित्त चैत्य बीज बीज स्वभाव कल्पितो अनित्य विज्ञान ईश्वर लक्षण विपरीत अभिवगम्यते यस्य अभिच्छेदे संसार व्यवहार बाह्य बाह्य है विलक्षण जीव मानते हैं किसको चक्षुर बुद्धि आदि समाहार संतान अहंकार मम तो आदि विपरीत प्रत्यय प्रबंध अभिषेद लक्षण जिसको जीव शब्द से कहते हैं चक्षुर बुद्धि आदि समाहार इंद्रिय अंतकण ये सब समाहार मिला हुआ सूक्ष्म शरीर है ये संतान प्रवाह चल रहा है अहंकार ममत्व आदि अहंकार देह में ममत्व बुद्धि है देह संबंधी ममत्व बुद्धि ये सब विपरीत प्रत्यय भ्रांति ज्ञान है प्रत्यय ज्ञान विपरीत प्रत्यय भ्रम ज्ञान अहम मम बुद्धि ये चलता है प्रत्यय प्रत्यय का प्रबंध प्रवाह चल रहा है अनादिकाल से ये सब चिदाभास अलग हुआ अज्ञान के कारण देहादि में अहम बुद्धि अहम बुद्धि करके ये सब मिला करके अहम अहम विपरीत ज्ञान का प्रबंध प्रवाह चलता है उसका अविच्छेद है लक्षण जिसका विच्छेद नहीं होता लगातार चल रहा है अनादिकाल से वो जीव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान आत्म ईश्वर गर्व जिसके गर्भ में आत्मा है जिसको जीव कहते हैं उसके अंतर्गत आत्मा है या नहीं आत्मा कैसा नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञान मुक्त विज्ञान स्वरूप आत्मा ईश्वर मुर्दे से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर ईश्वर गर्भ यस्य जिसके अंदर ईश्वर है आत्मा वास्तव वही सार है वाक्य अनात्मा है वाक्य अनात्मा को आत्मा समझ करके भेद मानते हैं नित्य विज्ञान अभास नित्य विज्ञानवत अभासते चिदाभासे नित्य विज्ञान नहीं नित्य विज्ञान है ना चैतन्य ज्योतिष अभासते नित्य विज्ञान चैतन्य उससे प्रकाशमान होता है प्रकाश्य है जीव भेद भिन्न है जो प्रकाशक चिद्रूप उसका भेद नहीं दिखता है वह नहीं दिखता है जो दिखता है वह नित्य विज्ञान से प्रकाशित दिखता है देहादि भेद है नित्य विज्ञान आवास चित्त चैत्य बीज बीज स्वभाव एक चित्त और एक चैत्य एक बीज एक बीज बीज वाला स्वभाव है मैं देखो अर्थ क्या चित्तम ज्ञानम चैत्य सुखादय ज्ञान का विषय चैत्य सुखादि सुखादि ज्ञान का विषय चित्त चैत्य ज्ञान और उसका विषय सुखादि बीजम बीज क्या है अविद्या आदि अविद्या काम कर्म ये बीज है जीव होने के लिए जन्म मरण के लिए मूल कारण है अविद्या आदि से काम कर्म वासना कर्म सो पुण्य पाप कर्म ऐसे जन्म प्राप्त करता है अरे बीज बीज वाला बीज से जैसे अंकुर होता है यहाँ भी अविद्या आदि बीज से अविद्या कारण बीज से क्या बनता है शरीर बीज हो गया शरीरम बीज बीज तत्स्वभाव ऐसा स्वभाव विशिष्ट से विशेषणतादात्म्यात् ये जो जीव माना जीव कहाँ है ऊपर आया अनित्य हाँ, विज्ञान आभास चित्त चैत्य बीज बीज स्वभाव बीज बीज स्वभाव वाला बीज बीज स्वभाव कैसे हुआ बीज शरीर हुआ शरीर स्वभाव कैसे होगा वो विशिष्ट से विशेषण विशिष्ट होता है देह आदि विशिष्ट आत्मा देह विशिष्ट आत्मा का विशेषण के साथ चित्त चैत्य आदि विशेषण के साथ तादात्म्य होने से तत्स्वभाव कह दिया सर्व स्वभाव आत्मा सर्व स्वभाव कैसे होगा सर्व विशिष्ट आत्मा है विशिष्ट का विशेषण शरीर के साथ चित्त के साथ ज्ञान के साथ विषय के साथ सब विशेषण के साथ तादात्म्य होने से तत्स्वभाव कहा बीज तत् तत्स्वभाव विशिष्ट विशेषण के साथ एक रूप ऐसे भान होता है तत्स्वभाव का यस्य विशिष्ट रूप से अविच्छेदे तत्प्रविष्ट चित स्वरूप से संसार व्यवहार जो जीव कहा जाता है विशिष्ट है विशेष रूप से शुद्ध चेतन है और विशेष रूप से देह इंद्र मन बुद्धि अहंकार आदि भी है अविद्या कर्म आदि है वो विशिष्ट रूप का अविच्छेद जब तक तो विच्छेद नहीं होता है तब तक उसमें प्रविष्ट चेतन चित स्वरूप से संसार व्यवहार संसारी जड़ को नहीं कहते चेतन को कहते हैं जो जीव है विशिष्ट है देह इंद्र मन बुद्धि आदि विशिष्ट शुद्ध चेतन वो विशिष्ट को जीव कहते हैं जीव जो कहा गया विशिष्ट रूप है शुद्ध नहीं देहादि उपाधि से युक्त उपाधि विशिष्ट जीव वो विशिष्ट रूप का जो तो विच्छेद नहीं होता लगातार चलता है जन्म मरण जब तक ब्रह्म स्वरूप का चेतन का ज्ञान नहीं हुआ तो देहादि में हम बुद्धि करता है विशिष्ट रूप चलता है उसका जब तो विच्छेद नहीं हुआ तब आत्मा में संसारित्व का व्यवहार किया जाता है विशिष्ट के अंतर्गत आत्मा है या नहीं विशेष रूप से तत्प्रविष्ट चित स्वरूप से विशिष्ट में प्रविष्ट चित सब स्वरूप प्रविष्ट का तो अंतर्गत विशिष्ट के अंतर्गत चित स्वरूप में संसार व्यवहार होता है ये संसारी हो गया और विशिष्ट रूप का विच्छेद हो जाएगा ज्ञान होने पर अज्ञान रहेगा अज्ञान नष्ट होता अज्ञान काम कर्म देहादि तो नष्ट हो गया तो विशिष्ट रूप रहेगा विशिष्ट रूप का विच्छेद हो गया तो यस्य च विच्छेदे प्रतिबिंब रूप से बिंब संपत्त्या मुख्य व्यवहार विशिष्ट में अज्ञान नष्ट हो गया अंतकण आदि नष्ट हो जाएगा ये सब तो नष्ट हो जाएंगे बुद्धि में जो चिदाभास दिखता था चेतन का प्रतिबिंब वो नष्ट हो जाएगा या कहां जाएगा दर्पण में आप मुख देखते रहो दर्पण यदि टूट गया तो दर्पण जो प्रतिबिंब दिखता है वो प्रतिबिंब कहां जाएगा था नहीं था प्रश्न जाएगा कहां <laughs> बस बिंब ही दिखेगा और कुछ नहीं रज्जु में सर्प दिखता था रज्जु देख लिया कहते सर्प कहां गया कहां गया कहते उसी रज्जु में घुस गया सर्प कहां गया रज्जु के साथ एक हो गया अलग नहीं रहा इसी प्रकार ये प्रतिबिंब से बिंब संपत्तिया प्रतिबिंब बिंब रूप हो गया बिंब से अलग प्रतिबिंब रहा ही नहीं तो एक हो गया कह देते हैं बिंब प्रतिबिंब पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है किंतु पहले प्रतिबिंब अलग दिखता था अभी उसको देखने के लिए क्या देखना बिंब को देखना पहले बिंब को देखो प्रतिबिंब को देखो दोनों दिखता है इधर बिंब इधर प्रतिबिंब और उपाधि चला गया तो क्या देखना है बिंब रूप ही देखा प्रतिबिंब अलग नहीं रखा तो प्रतिबिंब बिंब स्वरूप हो गया तो मुख्य व्यवहार भवती कैसे मुख्य व्यवहार होगा जीव तो समाप्त हो गया मुख्य काल में जीवन नहीं रहा तो मुख्य व्यवहार किसमें होगा प्रविष्टस्य चित स्वरूपस्य जिसमें संसार व्यवहार उसे मुख्य व्यवहार संसार व्यवहार किसमें हुआ था ये विशिष्ट में प्रविष्ट चित स्वरूप में विशिष्ट में प्रविष्ट चित स्वरूप संसारिता विशिष्ट का विच्छेद हो गया तो चित्त स्वरूप रहेगा हाँ चित्त स्वरूप में मुख्य व्यवहार जो बद्धता वही मुक्त होगा मुक्ति काल में रहेगा तो मुक्त हुआ और जो मुक्ति काल में नहीं रहेगा वो मुक्त हो गया कहा जाएगा बंधन में था कारागार में और उसको मार दिया मर गया मुक्त हो गया बंधन से मुक्त कहेंगे यदि मुक्ति काल में रहे मुक्ति काल में नहीं रहा तो मुक्त कैसे हुआ जीव बद्ध है और मुक्त मुक्त हो गया तो जीव नहीं रहा अर्थात जीव खत्म हो गया तो यही मुक्ति है तो जीव के विशिष्ट रूप से प्रविष्ट जो चेतन उसमें बंध व्यवहार होता है संसार व्यवहार होता है बंध बद्ध नहीं होता है आकाश को घड़े के अंदर कोई बांध कर रख देता है क्या घटा आकाश ऐसे प्रकार बंध व्यवहार होता है कहते बद्ध हुए जीव में संसारित तो व्यवहार होता है विशिष्ट है देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि के साथ अंदर चेतन भी है तो देह आदि उपाधि विशिष्ट चेतन में बंध व्यवहार है संसारी व्यवहार है और जब देहादि विशेष नष्ट हो जाएगा विशेष से शुद्ध चेतन रहेगा वही चेतन में मुख्य व्यवहार हुआ सकल्पित रूप वो जो विशिष्ट जीव कहते हैं वो कल्पित रूपे कल्पितम रूपमस्य जीव जिसको कहते विशिष्ट देहादि विशिष्ट चेतन वो कल्पितम रूपमस्य कल्पित रूप है वास्तव है ही नहीं देहादि यदि वास्तव नहीं तो देहादि विशिष्ट वास्तव कैसे होगा दंड वास्तव है तो दंड विशिष्ट पुरुष एक विशिष्ट कहेंगे और जो विशेषण कुछ है ही नहीं तो विशिष्ट क्या होगा कोई सशस्त्र का धनु बना करेगा सशस्त्र का धनुर्धर खपुष्प कृत से कर आकाश कुसुम के से मुकुट बनाया ऐसा बंध्या श्रुत जाति सशस्त्रंग धनुर्धर पहले क्या है मृग तृष्णा अंबस स्नात बिल्कुल स्नान क्या है स्नान नहीं करके नहीं किसमें मृग तृष्णा जल में स्नान करके और खपुष्प कृत से कर भस्म लगाए पुष्प का आकाश कुसुम का मुकुट बना दिया ऐसा बंध्या सूत्र या सूतो याति सशस्त्रंग धनुर्धर सससृंग से धनु बनाकर धनु लेकर जा रहा है विशेषण यहाँ क्या खपुष्प धनु धनु ये सब विशेषण वास्तव है क्या ये नहीं होगा तो फिर और कौन बंध्या सूत्र क्या होगा विशेषण मिथ्या है यहाँ विशेषण सब देह इंद्र मन बुद्धि आदि विशेषण मिथ्या है वहाँ तो असत है या मिथ्या है मिथ्या होने के कारण तद विशिष्ट चेतन कोई तृतीय है ही नहीं कल्पित रूप पृथक थे अत सिद्ध साधनम ऐसे जो कल्पित रूप चिदाभास विशिष्ट जीव वो एक है अनेक है क्या सुनते हो कोई एक है अनेक है अनेक है क्या है पता नहीं तो क्या एक होते ना है चाहे <laughs> चिदाभास कल्पित रूप एक है अनेक है कल्पित रूप बहुत क्यों विशेषण कल्पित देह भिन्न भिन्न कल्पित सबका देह एक ही क्या देह अलग अलग है देह इंद्र मन बुद्धि विशिष्ट भिन्न भिन्न हो गए एक ही आकाश होने पर भी हजार घड़ा रखेंगे तो से कितना होगा हजार हो जाएगा इसी प्रकार देह इंद्र आदि भिन्न भिन्न होने के कारण तद विशिष्ट जीव कल्पित अनेक रूप दिखते हैं उसमें भेद सिद्ध है पूर्व पक्ष अनुमान करता है सिद्ध जीव में भेद ईश्वर जीव भेद सिद्ध करना तो पूर्व पक्ष कहता है ऐसा जो चिदाभास विशिष्ट अथवा देहादि विशिष्ट चेतन उसमें भेद हम मानते इसलिए सिद्ध साधनम प्रथम कल्प हो गया सिद्ध साधन दोष से निरस्त हुआ तीन विकल्प क्या था तीन प्रकार आत्मा पहला क्या था चित्त प्रतिबिंब धर्मित्वेन गृहन्ते दूसरा है देव मनुष्य आदि देहा हां द्वितीय विकल्पेपि सिद्ध साधनतमा और द्वितीय विकल्प करो पहले था देह दे, पहले कल्प में तो चित प्रतिबिंब बुद्धि आदि विशिष्ट और दूसरे कल्प में है देव मनुष्य आदि सदवाच सचिति का देह चेद चेतन विशिष्ट देह पहले देह विशिष्ट चेत चिदाभास अब यहाँ चेतन विशिष्ट देह द्वितीय कल्प है तो विशेष विशेषण कर दिया उसमें भी ठीक है भेद ही देह विशिष्ट चेतन जैसे भिन्न है चेतन विशिष्ट देह भी भिन्न है देह भिन्न भिन्न होने का ना क्योंकि विशिष्ट विशेष्य विशेषण संबंध को लेकर के विशेषण भिन्न हो गया तो विशिष्ट भिन्न है विशेष हो गया देह को विशेष कर दिया पहले देह को विशेषण करके प्रतिबिंब को विशेष किया था अभी चेतन को विशेषण कर देह को विशेष कर दिया वो भी भिन्न है द्वितीय कल्प में भी सिद्ध साधनतम आह अन्यश्च अन्यश्च मृत पवत प्रत्यक्ष प्रध्वंसो देव पितृ मनुष्यादि लक्षण भूत विशेषण समारो समारो अन्यश्च हे मृत पवत प्रत्यक्ष प्रध्वंस मिट्टी में लेपन कर दिया मृत प्रलेप प्रत्यक्ष प्रध्वंस प्रत्यक्ष प्रध्वंस वैसे जिसमें देखते देखते नष्ट होता है कौन ऐसा है देव पितृ मनुष्य आदि लक्षण जिसको देवता पितृ मनुष्य पशु पक्षी कहते हैं ये तो देखते थे कि तो मर जाता है ये जो जीव शब्द इसको लेना है भूत विशेष का समाहार भूत है पृथ्वी आदि भूत का शरीर इंद्र मनोबुद्धि आदि बना हुआ वो समाहार रूप है ये द्वितीय हो गया तो देखते देखते नष्ट होता है वो तो वो भी कल्पित है उसमें वेद सिद्ध करो कोई आपत्ति नहीं वो शरीर भिन्न भिन्न है तो शरीर भिन्न भिन्न होने के कारण सचित का देहा चेतन विषय देह भी भिन्न भिन्न है वो भी मानते हैं उसे वेद सिद्ध करो तो कोई आपत्ति नहीं अतृतीय विकल्पे बुद्ध्यादि कल्पितेभ्य विशिष्टात्मभ्य व्यतिरेकेण तृतीय विकल्प है अलग अतः तो टीका में हो गया देव मनुष्य आदि लक्षण भूत विशेष समाहारो न पुनः चतुर्थ अन्य भिन्न लक्षण तरह अभ्यपगम्यते तृतीय के लिए कहेंगे चतुर्थ कोई नहीं ईश्वर से भिन्न लक्षण वाला जीव कोई भिन्न लक्षण वाला ईश्वर से अन्य न स्वीक्रियते प्रथम हो गया चिदाभास विशिष्ट चित प्रतिम्ब देह विशिष्ट देह आदि विशिष्ट चिदाभास दूसरा विकल्प हो गया चेतन विशिष्ट देह तृतीय विकल्प भी कहते तृतीय विकल्पे बुद्धि आदि कल्पितेभ्यो विशिष्ट आत्मभ्यो बुद्धि आदि से कल्पित होता है विशिष्ट आत्मा भिन्न भिन्न है सब की बुद्धि आदि भिन्न भिन्न होने से बुद्धि आदि से कल्पित विशिष्ट आत्मा जीवात्मा से अभ्य व्यतिरेकण औपाधिक भेद से भिन्न जो जीव दिखते हैं उनसे व्यतिरेकण निरुपाधिक स्वरूपाभिप्रायण निरुपाधिक स्वरूप को पक्ष बना पक्ष बना करके भेद सिद्ध करो औपाधिक भेद को भेद वाले को लेकर के पक्ष बनाओ तो हम कहेंगे सिद्ध साधना निरुपाधिक स्वरूप को लेकर यदि पक्ष बना करोगे हेतु करे विरुद्ध धर्म आक्रांतत्वात् विरुद्ध धर्म आक्रांत निरुपाधिक स्वरूप में रहेगा विरुद्ध धर्म निरुपाधिक स्वरूप शुद्ध चेतन में विरुद्ध धर्म है ही नहीं तो पक्षीकरण हेतु आश्रय सिद्ध पहले आश्रय क्या है निरुपाधिक चेतना निरुपाधिक चेतना ईश्वर से अलग कोई है क्या किसको पक्ष बनाना कहां भेद सिद्ध करना जहां भेद सिद्ध करना ईश्वर से जीव भिन्न है तो निरुपाधिक चेतन को पक्ष बनाओ तो एक ही है भेद के एक में भेद सिद्ध करना दो निरपाधिक चैतन्य पहले बताओ किस में भेद सिद्ध करना तो आज से जैसे गगनारविंद को लेकर कोई कहेगा अनुमान करेगा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सर्वजारमितवत् सरज में तड़ागे में जो कमल सुगंध है तो आकाश में कमल है तो सुगंध होगा ना नहीं सुगंध होगा पहले आकाश कमल सिद्ध हो तो सुगंध दुर्गंध अनुमान करें आकाश कमल नहीं तो आश्रय सिद्ध है हेतु कहाँ रहेगा आश्रय सिद्ध तादृश से आश्रय से मान विकल्पत्वाद कोई ये तो निरुपाधिक चेतन के अलग है ही नहीं कोई प्रमाण सिद्ध नहीं किसको पक्ष बना करके वेदी सिद्ध करना देहादि विशिष्ट चिदाभास में भेद सिद्ध करना या चेतन विश्व देह में भेद सिद्ध करना है दो विकल्प हो गया दोनों माना जाता है और देहादि से भिन्न बुद्धि आदि से विलक्षण निरुपाधिक चेतन में भेद सिद्ध करना निरुपाधिक चेतन में पहले अलग-अलग है ही नहीं निरुपाधिक चेतन पहले मालूम हो तो उसमें हेतु रखेंगे सिद्ध करेंगे ऐसा आश्रय कोई प्रमाण सिद्ध नहीं किसको पक्ष बनाना मान विकलत्वाद कोई प्रमाण सिद्ध नहीं शुद्ध चेतन ईश्वराद अन्य आत्मा नास्ति ते बदता ईश्वर से अन्य नहीं ऐसा सिद्धांति कहता है ईश्वराद अन्य आत्मा नास्ति ते बदता सर्वपादिस्थ ईश्वर एव आत्मा इति उक्तम भवति सारे देहादि में आत्मा ईश्वर कितने है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर से आत्मा है ही नहीं मतलब सारे देह में एक ही ईश्वर है आत्मा एक आ गया एक ही यदि ईश्वर होगा आत्मा उससे भिन्न कोई नहीं तो एक बद्ध एक मुक्त एक ईश्वर एक जीव एक उपासक एक उपासक ये सब कहाँ से आए इसका समाधान आगे यदि एक ही आत्मा है तो बद्धत्व मुक्तत्व आदि विरुद्ध धर्म एक सुखी एक दुखी एक जन्म होता है एक मर रहा है ये भेद कहाँ से आएगा यदि एक ही आत्मा है एक जन मरेगा तो सब मर जाएंगे एक खा लिया तो सबका पेट भर जाएगा एक हंसने लगा तो सब हंसेंगे एक सो गया तो सो सो जाए ऐसे तो नहीं होता है ईश्वर जीव जीव परस्पर भिन्न है इसके लिए शंका समाधान आ गए ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि